गीता अ अठारह के श्लोक नंबर बासठ में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा वो परमेश्वर कौन है कहाँ है कैसा है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन पतिव्रता के अंग को कोई नहीं देख सकता तो ठीक सा भाई तीनों चाल पड़े मजबूर हो गए साधु का रूप बना ऋषि का तीनों ने नारे न्यारे और इकट्ठे पहुंच गए कहने लगे अनसुईया कहाँ दिया आओ महाराज जी बड़े दर्शन दिया तब तो बड़े भाग मेरे के घर पर संत आ गए मेरे द्वार पर के भिक्षा दो कहा जी लो अभी ला ऐसे नहीं दूध पियेंगे दूध पी लो महाराज जी जब क्या बात होगी दूध पिलाती हूँ ऐसे नहीं पीवेंगे जो गिलास भर कर ले आई और निवस्त्र होगा पेला नगन होकर जानकी की तुम रॉन्ग नंबर पकड़ रहे हो रॉन्ग हाँ, स्टेशन पर बोलने लागे एक अच्छा ले निवस्त्र पे आऊंगी बेटा आ जाओ तुमने तीनवा के बालक बना दिए छह छह महीने के और जाकर कमरे में काट गए कपड़े चमचा तो घेरे दूध उन गए पारने में दिए लोटा अब पार्वती ने देखा लक्ष्मी ने कित गई वाय कोई ना बड़े ला दिए उन्हें चिंता हुई नारद जी भेजे ढूंढ के लाके कारण बन गया वो नहीं आ रही नारदीन देखा जाके तीनों गुठे के अंगली दे रहे मुंह में उड़ा लोट रहे पालने बालक बनके ये तीनों मालिक जिसको तुम पूर्ण परमात्मा कहते हो ये शास्त्रों से बता रहा हूं बाहर की एक भी बात नहीं से ना तो कोई ना जचे थारे सर फोड़ दो सच्चाई इतनी कड़वी है बंदी छोड़ की तो नारद जी ने आगे बताया कि वो तो बात बिगड़ी है तो तीनों बालक बना रखे हैं उन्हें लोट रहे पालने में ठाट से लेटे हुए ब्रह्मनारद जी के ऊपर पार पड़े अखात जोड़ो पा पकड़ो उस अनुसुईया के और वह बक्सा जो बात बने अब तीनों आई हाथ जोड़े अक अकनसुईया हमने तो आपके साथ नाजायज कर दिया हमने माफ कर दो और इनको वैसे ही बना दो अगले जाओ अपने शेरा ने वो तीनों बना दिए नो गो गर्मा विष्णु महेश ये थरे शेर थे ले जा अपने फिर कहते हैं उनका उसका पति आ जाता है वो ऋषि तो वो कहने लगा महाराज जाते बड़े दर्शन दिए वो तीनों बोले मांगो भाई के मांगे हम तेरे बड़े प्रसन्न है और तेरी पत्नी बहुत सती ने बोला जी मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए तीनों जैसा एक ही स्वभाव में तीनों जैसा एक ही पुत्र हो एक तो तीनों जैसा हो बोला तथास्तु तो दत्तात्रेय का उत्पन्न हुआ अनुसुईया के दत्तात्रेय भगवान जिसके तीन मुंह थे एक ब्रह्मा के साथ विष्णु के साथ शिव के साथ और उस दत्तात्रेय की भी मुक्ति नाम बिना कोई ना हुई गुरु के बिना नहीं चाला काम दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और 25वां गुरु कबीर ये जोगजीत जी मिले उसको उस जोगजीत तो पांडा छूटे चौबीस सात का तो वैसे ही उसने कोई बुगला देख लिया कोई फलाना देख लिया ये कोई गुरु थोड़े थे गुरु तो उसने पच्चीसवा मिला जो कि जोगजीत थे वो सतपुरुष थे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये तीन लोग का नाम भी ये काट्य बीमारी ने तीन लोग ताई की मुक्ति यही देते हैं इसी नहीं के नाम से सतगुरु जो नाम बख्शते जब दत्तात्रेय की मुक्ति अब ये बता भाई अब ये समर्थ थे तो बालक बना दिए समर्थ ने बना सका कोई बालक ला बना कबीर साहब का बालक देखो गरीबदास जी को किसने क्या किया 120 साल रह के गए और वो अनोनी कर गया जो कोई कर नहीं सकता इतिहासों से शास्त्रों से ही जानकारी होती है और उसी से आधार पर हमने इनको भगवान मान्या तो ये भी शास्त्र है कि अनसुईया ने तीनों ब्रह्मा विष्णु में इसके बालक बना दिए तो यहां कह रहे हैं कि वेद पुराण पुराण बनाकर और ओछा कच दिया ज्ञान तने वेद और कुरान ये मुसलमान भाइयों ने ऐसे ही चार कतेब इन चारों वेदों के आधार पर उन्होंने अपनी नारी बना रखी है भाषा व्यन करके बात वही है वो भी निराकार मानते हैं भगवान को अल्लाह को चारों कतेबों का सार है कि वो ईश्वर बेचून है बेचून का मतलब जो निराकार शक्ति जो दिखा को ना इसी प्रकार वेदों का सार है कि ईश्वर निराकार है और वो ज्योत निरंजन है बस वो भी ज्योत निरंजन तक की साधना करते हैं ये भी ज्योत निरंजन तक की करते हैं वहीं जाकर दोनों की भक्ति का समापन होता है वेद कुरान पुराण बनाए ओछा कच दिया ज्ञान तने यानी अपने तक ही ज्ञान दे दिया अपनी ही सीमित रख लिया और सूक्ष्म वेद का भेद छुपा कर गलती करी महान तने ये सूक्ष्म वेद बता रहा हूं आपको ये पांचवा वेद की जानकारी दे रहा हूं जो कि जिसमें चारों वेद भी ये पुराण भी आगे और साथ में सतलोक की जानकारी ये सूक्ष्म वेद था उस परमात्मा को काल ने बुला दिया वेद कतेब निराकार बतावे वेद और कतेब चार कतेब हैं मुसलमान भाइयों की और हिंदू भाइयों के चार वेद हैं ये हिंदुओं के वेद नहीं है वैसे देखा जाता वेद तो वैसे जब जब सृष्टि शुरू हुई तब के हैं ये किसी जाति या मजहब के नहीं है ये जितने भी जिनको आज हिंदुओं की लादी शास्त्रा पे हिंदू शास्त्र कहते हैं ये हिंदुओं के नहीं है ये तो जब कथे गए थे जबकि कोई मजहब था को ना ये तो प्राणी मात्र के लिए और सबके लिए मान्य होने चाहिए ये शास्त्र जितना भी इनमें ज्ञान है ये गलत नहीं है लेकिन ये ज्ञान गलत क्यों माना गया क्योंकि सतलोक का ज्ञान कोई ना सतपुरुष की बेरा कोई ना और जब तक वो बेरा नहीं होगा इतनी ये ज्ञान इनकम्प्लीट है अधूरा है ये सुड़ देता कोई ना अब अब सुड़ गया कति अब संशय एक नए पैसे का किनारा है <clears throat> अब शिव प्राण पढ़े तो विष्णु में संशय हो जाए विष्णु प्राण पढ़े तो ब्रह्माणी में संशय हो जाती है वो उसको बड़ा बता रहा है उसको बड़ा बता रहा है वेद पुराण कुरान बनाए ओछा वेद कतेब निराकार बतावे साकार कहे पुराण तने अब हमारे शास्त्र हैं प्राणी मात्र के वेद और कतेब तो उसने निराकार माने और में उनकी साकार शक्ति का वर्णन दे रखा उन्हीं परमात्माओं का क्योंकि देवी बताती है भागवत में देवी भागवत में कि मेरा और सनातन परमात्मा का अर्थात दो हो गए वो ब्रह्म कहो सनातन भगवान कहो ये निरंजन है काल है अब इसकी जो गुंडी संज्ञा दें तो काल है और भगवान की संज्ञा दें तो ये निरंजन है और गुंडी भी के है कि लोग एक, एक, एक लाख जीव रोज खाओ फिर इसने महाराज ने काल भी इनको बिल्कुल ठीक कहा है और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं गीता जी में कि मैं महाकाल हूं और इसलिए सारे लोगों ने खत्म करूंगा इसलिए प्रकट हुआ हूं तो बता कबीर साहब ने गलत कैसे कह दिया स्वयं स्वीकार करने लग रहा निरंजन के मैं स्वयं काल हूं और सब न मारून खाऊं और फिर पैदा कर दू तपत शिलाप है अपनी महिमा आप पै गाई और जीव कह भगवान तने गिरिदास जी कहते मुल्ला माया मग में बैठी अंशा चुन चुन खाई और ज्योत स्वरूपी बहा निरंजन मैं करता भाई मैं भगवान सो यू नौका है मेरे जैसा सह को नहीं आ रहा तपत शिला पै बून का खाव जीव किए गणे काल तले ओए होए आड़ तो दुख का पाड़ है है इस जीव का ऊपर और जब यहां से इस तपत शिला का ऊपर इसका सुख सुन शरीर पट किया जाता है वहां देखे इसकी हालत और उसके बाद ये चौरासी का चक्कर धर्मराज का नो का नो लेखा वो न्यारा से ये तो न्यारा संकट है हमारे ऊपर जो तपस्या के ऊपर और बुना जाता है अपने स्वार्थ की खातिर ऋषि मुनि सब करें तपस्या हे भगवान हमें मोक्ष दिए और तप करवा कर राज दे दिया फिर लख चौरासी में ठोक दिए आप लोग देखते हैं हम इसी चीज से प्रभावी हो जाते हैं क्या करते हैं हम देखें कोई पड़ोस गांव में बाहर बैठकर कोई तपस्या करते हैं नादान लोग और उनको तपस्वी महात्मा की संज्ञा हम देते हैं क्या हुआ ये तो कितना तपस्या करते हैं तीन घंटे और इकतालीस दिन इकतालीस दिन में तीन तीन घंटे तपस्या करते हैं और जेठ के महीने में शिखर दोपहारी यानी ग्यारह से एक बजे तक हमारे गांव में हमने देखा एक फिल्म बनवाई एक महात्मा की जो तपस्या कर रहा था अब उसके लक्षण देखा जाना सी आदमी तो नेड़ा कौन था उसके उस फिल्म में आपको दिखाऊंगा कभी समय मिला फिल्म बनवाई हमने कि भी देखें वो प्रक्रिया क्या करते हैं क्योंकि हमने नजदीक से नहीं देखा था वो तपस्या क्या करते हैं इतना मेरे पास समय नहीं था कि मैं वहां दो तीन घंटे निकालू तो हमने एक पिक्चर बनवा ली तो वह फिल्म उसकी बनाई गई अब उसमें क्या करता है वो पांच दोने लगा रखे हैं और बीच में बैठता है पांचों दोनों को उसके स्थान से कोई पांच पांच फुट की दूरी पर रखता है छह छह फुट की दूरी पर पांच धोने लगाता है और पहले दिन जैसे पांच उपले उनकी राख होगी वो राख वही रहेगी अगले दिन एक बढ़ा दिया दो बढ़ा दिया ऐसे बढ़ाता जाता उस दिन जब हमने वो फिल्म ली वो लगभग उसका मेरे ख्याल में पच्चीसवा दिन था तीसवा पच्चीसवा दिन होगा अच्छे ऊंचे ऊंचे हो रहे वही इतने उन्हीं के ऊपर और फिर राख रख दिए जाते हैं चालीस जैसे तीस हो गया था तीस इकतीस हो गए इकतीस ऐसे रखते जाते हैं वो तीस तीस गो से चारों तरफ उपले रख दिए और उनको सलगा दिया जाता है और वो खूब जलते हैं खूब जल के और जब धुआं उठना बंद हो जाता है लोगों की दृष्टि में तो आग तय अब बनी है सही इसकी वो क्या करता है कि एक बाल्टी में और वो राख धोने की राख इकट्ठी कर रखी होती है नारी उस बाल्टी में उसकी गारा सी बना ले पतली पतली ले इसी और पहले तो सारे मुंह पक सारे काना पक माथे पक सिर पक बालू सा बन जाता है कति लीप कर देता है जैसे प्लस्टर मड प्लस्टर होता है ऐसे मिट्टी की ले की तरियां खूब चढ़ा ले सर और फिर वो सिर पर इतने बड़े बड़े बाल उसके उन बालों को उस बाल्टी में बेवे कति गच कर ले लेनो तो ताजा और खूब उसमें वो गारा और वो राख कति मिला ले और फिर उसको थोड़ा थोड़ा निचोड़ के और बनाकर उसकी गिंडी हिरण सर पर रख लेता है और जब बैठता है उन दोनों में जब वो आग धुआं छोड़ना बंद कर देती है एक घंटे तक तक तो उसके ऊपर की लगी हुई वो राख थी वो उस आंच को प्रवेश नहीं करने दे क्यों गिल्ली राख लाग रही और राख का एक ऐसा स्वभाव होता है ये अग्नि को आगे नहीं जाने देती हमारी माता बूढ़ी माई दादी क्या करा करती खेत में जाती दूध थोड़ा होता ना जिस दिन उस दिन एक मट्टी का उसका राख का लेख और ला जाया करती उसी आंटी का और उतने को उसे लागा दर्जन वो उतना ही रिस्ट्रक्ट करता उस आंच को और उस दूध को सुचारू रूप से पका कर आखे बांधता अब वो बड़ी मुश्किल से आग को आगे जाने देता धीमी धीमी बड़ी प्रॉपर सी छेदन जोगी को ना हो ऐसे तो उसने नो या ले रहा ला रखी चौकर तो देखे एक घंटे के बाद आध पौन घंटे छह वो जो राख होती है ना गोस्या के ऊपर की उपलिया के ऊपर गए जो जल चुके हैं सुलग वह अपने आप राख ही उस आग को बंद कर देती है जो उपलब्ध आ रही थी अब इस इस समझोगे जो बात बनेगी ये नादान लोगों को कैसे गुमराह करें बैठे बोली बारी आत्माओं का तो वो मतलब साठ प्रतिशत लेस हो जाती है आंच उन गोशों की उपलों की जो धोने ला रखे आध घंटे के बाद और फिर क्योंकि ऊपर की धूप भी हवा जेठ की और चारों तरफ थोड़ी थोड़ी धंध का वो राख भी उसकी आंच भी आ रही है तो फिर क्या करता है जैसे कमर में उसने लागी ना गरम गरम हो तो उस कमर में उन बाड़ों को खोलता है अपने को बॉडी बूझ बना रहा सारी दुनिया वो बाड़ खोले यानी और उनको कमर पर कर लिया अब नो हिला के क्यों जा नीचे तक जहाँ तागड़ी ताई वो इतने लंबे हैं और उनको ऐसे हिलावे अजुआ गायरा गेच ना वो ऊपर ले लाग रहा था क्यों पहले भी चिपका रखी और फिर उसमें वो पानी समावेश उसने ही गिल्ली फेर कर दी फिर इस पास में नो पटक लिया फिर इस पास इस साइड में फिर आगे नो कर दिया ऐसे करता है इतने भी तीन घंटे पूरे हो जा और फिर सुल पे पाड़े बैठ गए ये साधना इनकी ये तो नकली तपस्वी जो कि कति सीधे नरक में जाना है न को रोकनिया कोई ना इनके ऊपर आधारित है और गरीबदास महाराज कबीर साहब कहते हैं जिन्होंने 22 22 लाख वर्ष तप किया ग्यारह ग्यारह अरब वर्ष तक तप किया और जिन्होंने सारी उम्र तप में खो दी वो भी गधे जुनी में गए ये तीन तीन में इकतालीस दिन बैठनी है और वो भी तीन घंटे इनको तो नरक में किता ऐसा गंदा स्थान मिलेगा जो ठिकाना भी कोई ना उडंग का एक बार महाराज ने बताया कि प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था उसने ग्यारह अरब वर्ष तक तप किया अब यहां पर क्योंकि हमारी बुद्धि संकीर्ण होगी ये बातें स्वीकार ना करें कि 11 अरब वर्ष तक का मतलब क्या है कैसे हो सकता है अब इसको ये भूल जाना क्योंकि हम प्रत्यक्ष को मानते हैं बीते हुए को नहीं मानते ये हमारे बुद्धि की बात नहीं है क्यों आज ये ऐसी व्यवस्था है नहीं कहते हैं हमने स्वयं देखे वो बूढ़े व्यक्ति जो कहते थे कि साढ़े पांच मन वजन को और ऐसे टोकरी में डालकर और छत पर माटी डाल दिया करता था ये व्यक्ति और वो हमने देखा हमारे गांव में उनकी खुराक देखा किलो घी पी जा आपको सौ ग्राम पी के दिखा दोगी जो तड़के दस्त नहीं लाग जा ब्लड प्रेशर नहीं हो जाते ये क्यों कर माना किलो घी पी जाता था वो और पांच मण आज तीन दिन मिलकर ठा के दिखा दो पांच मण ना मार जाएंगे और आज से पचास वर्ष पाछे तो मेरे ख्याल में कोई नो कह देगा ना चालीस किलो वजन न ठा लिया करते ये भी स्वीकार्य नहीं होगा अर्थात इस बात को तो आप भूल जाओ क्या गल ये हो सकता ना हो सकता पर इतना मान लो उसने गणे दंता तप किया और काफी वर्ष तक तप करके वो धर्मराज के पास पहुंचे उसने उसको राजा बना दिया पृथ्वी का पृथ्वीपति बना दिया चक्रवर्ती राजा खूब मौज मारी और फिर कहते हैं <clears throat> आए ना <clears throat> पारखद लेने की खातर है चलो प्रियव्रत तुम धर्मराज ने याद कियो वो नो कह भाई मैंने एक सांस और ले लेंगे ग्यारह अरब वर्ष तक राज करके भी इच्छा मिटी नहीं अब बताओ ये महाराज कहते हैं इच्छा दासी जम की जम कह काल की या काल की दासी है इसने ठेका ले रखा है इच्छा ने इनको गदे और कुत्ते बनाने का इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार और पाप पुण्य दो वीर है या सतखसमीनार <clears throat> इच्छा इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है या खत्म नहीं होती बड़ा है उम्र तो घटे से और इच्छा बढ़े से बुढ़ापे में उधर की उल्टा उल्टा सिस्टम सारा यहाँ का कहते हैं तेरा नर धोखा धोखा लुट गया आगी अंत गड़ी आया बुढ़ापा बैरी और पड़ी परिवार में ममता गहरी और पोता ब्यालो मन में रह रही एक एल्यू करवा जो खड़ी जो कड़ोती जुगाड़ जोड़ रहा बुढ़ा कि एक पोता ब्याह दो बस ये बालक ब्याह कोई नहीं छे क्या पोते ब्याह पाछे की हो जाएगा बता अपना भजन में ध्यान लगा अरनो कहे के ली और बढ़वा दो छोरे के नाम की कोई ना रह दे पाछे दुखी हो जाए इतना गधा बनका कुत्ता बनका उसे लिए मारेगा थोड़ी दिन पाछे तो यहाँ ये इच्छा है इस जीव की सबसे हानिकारक है बच्चे ब्यादिए संस्कार फलेंगे कोई नो सोचा हम खिला तोड़ देंगे राजा जनक बहुत पहुंचे हुए संत भी थे और सैनिक राजा भी थे उसकी लड़की पर आपत्ति आई सीता पर नो भी ना पूछा मरा सक जीव ऐसे वो ज्ञानी थे उनको मालूम था हमने दुख का दुख पाना है कर कुछ नहीं सकते उन, उनके कर्म को हम नहीं बटा सकते हमारा फर्ज पूरा हो चुका है अब उसके संस्कार फलेंगे ना तो सेना भी ले जा सकता था अपनी बेटी के खातिर गेला दुख सुख में नहीं जा सकता था क्या उसने बेरा नहीं था नहीं गया वो ज्ञान होता था कि हम के डाल डाल देंगे बोले सारे बैठकर रो सका उसके दौरे और कुछ नहीं कर सकते इस प्रकार <clears throat> तो उसको फिर लो बोला जी फिर राजा बना दिया और ऊपर ले गए ऊपर ले नो बोला खबरदार जब तेने सांस लिया है तेरे ताई एक सांस लेने का हुक्म नहीं है और आगे दर ले गए धर्मराज बोला चल भाई इसका काला मुंह करो उन्होंने कहा जी काला मुंह क्यों कीजिए है कि भक्ति के लिए भेजा था भक्ति करी को ना डले डोन लग गया वहां तपस्या तो करता रहा अरे तो चल गदा बन और चौरासी बोल उन्होंने कहा जी माफ कर दो माफ तो करूंगा पर चौरासी भोगे पाचा करूंगा अब यहां बात सोचने की है बंदी छोड़ कहते हैं कि ऋषि मुनि सब करें तपस्या ये भगवान हमें मोक्ष दिए और तप करवा कर राज दे दिया और चौरासी में ठोक दिए ये इस काल का नियम है और तपस्या करे उसके अलावा भी सुस्कार दे जैसे इंद्र जी को ये कह रखा कि भाई देख तेरी पदवी है बेहतर चौकड़ी युग तक तू राज करेगा रा, स्वर्ग का राजा बनेगा और इसके बीच में अगर कोई तपस्या गणी कर गया तेरे तो या कोई पुन गणा कर गया ये गादी करके तो तेरा राज छीन कर उसने दे दूंगा ये तो चौकस रहना अब तू जाने कौन सी का खिलानी से उसका कौन सा जो है पेच लड़ाना से युवा थारी कुश्ती इवेंद्र ने और चिंता पड़ जाके देखो तपस्या करके बात बिगाड़ दी विश्वामित्र जी तपस्या करें थे तपस्या भी ना होती पूरी उर्वशी भेजी इंद्र ने शादी कर ली विश्वामित्र ने एक लड़की होंदे ने बड़ी लड़ संभाल रही सीधी आगे सी गलती मत करना छोड़ कर जानती रही फिर रोवा माथा हाथ मार गए तो बता ये भी ना कर देता ये नरेंद्र कम से कम ये डले डोए न डोले दे तो कम से इनको भी राजी कोई ना तो इस प्रकार महाराज जी कहते हैं यहां पर इतिहास पढ़ता सियावन संतों ऋषियों की जो साधना आप लोग करते हो इनसे इंसान की तमन्नाएं खत्म नहीं होती विकार रहित नहीं होते एक बार कहते हैं पाराशर ऋषि शादी होते ही ऐसे ही सत्संग से प्रेरित प्रेरित होकर और कहता है मैं तो पहले साधना करके आऊंगा जंगल में जाकर और विकारों को खत्म करूंगा उसकी पत्नी कहती है कि बात एक बात सुनो आप इतने बुद्धिजीवी होकर भाई क्यों तो मेरे शादी करो थे अब शादी बच्चे पैदा करने का समय है अब तुम जंगल में जा बैठोगे या कोई बात हुई कहने लगा नहीं मैंने जो धारणा कर ली कर ली मैं तो मजबूरी में फंस गया शादी मैंने नहीं करनी चाहिए थी यह तो आपने पहले विचार करना था कि नहीं अब हो गया वो मेरे पर नहीं मानी तो कहने लगा कि मैं जंगल में तपस्या करूंगा और वहां से बीज शक्ति बेच दूंगा आपके बच्चे हो जाएंगे ठीक है अब क्या कर औरत ना माना था ठीक तो कुछ भी करे मिला गया काफी वर्ष तपस्या की साधना की वहां से कव्य को अपने बीज शक्ति देकर भेज दिया कि रानी को दे गया रास्ते में कहते हैं उसके ऊपर बात जपट गया कि उसने सोचा कोई मांस का टुकड़ा ले रखा है और कौवे के मुंह तक छूट गया दरिया ऊपर का जा था वहां पर कहते मछली ने वो बीज शक्ति खा ली उसके लड़की गर्भ रहेगी पेट में मच्छी से लड़की बन गई उस पारासर की लड़की उस मच्छी में पैदा होगी उधर से ऋषि आ रहा है अथवा लड़की मछियारे ने मच्छी पकड़ी मच्छी काटी उसमें एक सुंदर लड़की निकली उसका बाढ़ ना थे मछियारे ने परमात्मा की सौगात समझ के पाल दी शैनी होगी और उसको लेकिन उसमें बदबू इतनी गुंडी आवाज से मच्छी में ताया करे जवान लड़की होगी सत्रह अठारह साल की अब वही ऋषि अपनी साधना करके विकार रहित तो होगा अवश्य देख काल के खेल इतनी प्रसिद्ध है और वो मछियारे की लड़की थी यानी जो नौ धीमर की धीमर होते हैं जो नौका चलाते हैं इधर से उधर यात्रियों को पार करते हैं धीमर लड़ रोटी खाना शुरू करता है लड़की रोटी लेकर आई थी इतने में पारासर अपने सब घर को आने के लिए तैयार हो रहा है उस पटड़ी पर पहुंच जाता है और ऋषि को देखकर कर पता होता था कि धरते दबाई वो आया करें जो तो बना का भक्ति सिद्धि अपनी करके छोटी मोटी तो कहने लगा मुझे परले पार करके आओ अब ऋषि वही से कसूते हों से जैसे पहले आज सब तीस चालीस साल पहले हाँ, पुलिस वाले को ना मानना उसका जो डंडा ठोक दिया करते तो ये सिद्ध ही से होते सिद्ध पुरुष अग्नोट बेरा था जब ना खड़े हुए तो मन माने करा के श्राप दे दे तेरे बड़ा बेटी मैं तो रोटी खान लग गया तुम आत्मा ने परले पास से छोड़ा कहा अच्छा पिताजी पंद्रह सोलह सत्रह साल की लड़की और नौका लेकर इसी को बिठाकर चाल पड़ी उस पर उसकी नीच डिग्गी नीच आत्मा की बताओ अब यहां कहते हैं इस काल ने इस जीव की वह द्रुप्ति कर रखी अपनी है बेटी और फिर तेरी आत्मा जोड़े बेचारी ना कि महाराज जी दुनिया देखा है तो नशरम आनी चाहिए हम आत्मा हो गए अगले कहते हैं जलू पानी उठाया और ऐसे कर दिया छू मंत्र सारा धुंध होगी कुछ नहीं दिखता फिर कहती महाराज जी मेरे में इसी बूंदी बदबू आती है कुछ तो सोचो आप ऋषि हो कह लेकिन महाराज के या नीच जो व्यक्ति बुद्धभू बढ़ जाती है जीव की फिर ना देखता ताक का पीछा उसने उसकी वह सुगंध भी बदबू भी खत्म कर दी अपनी सिद्धि पर अब महाराज कहते हैं देखो भाई जाहे के बंद से फिर वो लड़की आ जाती है अब यहां महाराज जी कहते हैं कि ये देखो भाई वो तपस्या का के काम आया उनके दोनों को क्रम पाखे अब इसलिए कहते हैं ऋषि मुनि सब करें तपस्या <clears throat> हे भगवान हमें मोक्ष दिए और तप करवा कर राज दे दिया फिर चौरासी में ठोक दिए पांच सतव की कैद बनाकर ये ये सबसे बड़ी सोने की बेड़ी ला रखी मारा पांच तत्व की कैद बनाकर इसके अंदर रोक दिए और मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म गड़े में तोक दिए कर्म यहां पर प्रधान बताओ जो कह कर्म तो मुख्य है भाई कर्म दंड तो भोगना ही पड़े कर्म करे बिना काम ना चले महाराज ये कर्म गड़े में तो जट रखे सारे किसी भी संत ने देख ले कर्म प्रधान सवाई सत्यार्थ प्रकाश पट लेने के कर्म तो प्रधान है यहाँ पर और महाराज भी कहते हैं ये कर्म थारे गले में ये तोक डाल रखी तोक होया अगर किसी भारा भारा बेल नड़नो भी ना हो तो मेरे ख्याल में पच्चीस पच्चीस किलो की इतनी मोटी बेल होया करती और बेड़ी लाकर उन दोनों का कनेक्शन उसने कर दिया करते और ऊपर का हटा सकते नीचे न नहीं कर सकते ये कहते हैं इतने बड़े ये कर्म फारस काल न बांध रखी से और यहां से भाई मैं छुटवा सकू ना और कोई ना बचाओ तुम्हारे को काम क्रोध अहंकार लोभ का ये खूब बना दिया जालता ने अब देखो अहंकार कितना हमारे अंदर हर जीव में है और वही मनुष्य में प्रवृत्ति है वही पशुओं में है अब कुत्ता है दूसरे कुत्ते ने देखते और पकड़ पर पुछड़ कर लेगा और उससे ठाडा दिखे ना उछड़ दाब का वहकार न गुस्सा ढूंढ ना पानता एक किला बजा के डटे है चारों चौकड़ी ठोकता हुआ ये मारी गई लाम रहा एक बार कहते हैं पर यो बंदी छोड़ के आगे को ना डटा यू काल न्यू बात जैसे जैसे अब कबीर साहब के सामने इस काल की किस तिथि है वैसे तो बहुत तगड़ा है लेकिन बंदी छोड़ के कोई नहीं जोकर कोई ना कहते एक बगदी ने बोला जी मारे गांव में एक एक हाथी वाले आ गए ये बाबे से हुआ हाथी को लाते हैं और मांग मूंग कर ले जाते हैं उन्हें दो पैर का समय था हाथी को जोड़ में छोड़ दिया नान नून खातिर और वो जोड़ खोद रखा था ताजा खोजा था लंबे लंबे गरे गरे जूल बना रखे थे वो हाथी सारा इसका मारा फरनो और लोट बस्ती और पूरा डूब रहा उसमें और सूंड ने भी बस मड़ा सा दूर सी दिखो सूंड भी उसका इतना का और मस्ती इतने उस गांव का जोटा आ गया और जोटा था गणा तगड़ा वो किसी ने पढ़ नहीं दिया करता अपनी सीमा ही पाक रहा था उसने सोची वो सिर सर दिखा उसने अच्छी का उन्हें सोची इस जोटे की मत क्यों कर पड़गी तेरे जोड़ माँ उनकी ये जो जोडक्शन बांट रहा कि सब ने कुत्ते ना अपनी बांट रहा कि राजा ना अपनी बांट रखी और जोटे ना अपनी तो क्या हुआ अब जो टाटा जी पक्का नो बोला नो करके चला कहते तो अपनी पूरी शक्ति के साथ बेग से जोड़ कमा और नो डाणी ठोक दो ठाक है हाथी की एक नजर थी उसके ऊपर कान दे इस नवरही ने हाथी सारा बार निकलाया एकदम उस डूलते बाहर आ गया और पानी भर रहा सूटन में उसके मुंह पर पहना तो पानी मारा फुर वो जो हटेगा और जब देखा हमने इतना बड़ा पहाड़ सा उठा उनमें तो भाई अच्छा फड़क है उसी स्पीड से चौगनी स्पीड वापस कर दी अन्न बोला हमारे सीम वहां से चार किलोमीटर पड़ा सर सीम पार करके डटा पाछा फड़का देखा को सब कह रहे जोटा ऐसा रहा भाज चुक रहा है कि पाछा दिखता भी कौन है तो भाई मारा इतना व्यवस्था है सबका और उस काल का काल भगवान कबीर साहब का आगे न्यू बात जैसे हाथी का आगे झोटा बात है पर यह हमने मेरा को नहीं हम कबीर ने नो कहना कबीर के इच्छा है जो कुछ सवाइयो ऐसे पर मानोगे वो जिसका पेटा भर जाएगा जो इसकी समर्थता से परिचित हो जाएंगे एक माई का पति मरिया वह दुख में माथा फोड़े थी और मेरे बेटे की तो खैर राखिए इनो के आकरे हाथ तेरे तो जोड़े थी इनो के आकरे सभी हे भगवान बालक की जिंदगी दे चलो वो तो जो होनी तो होगी <clears throat> अब यहां विचार खत्म हो गए हमारे कि जिसने यू बाप मार दिया बेटे ने क्यों बख्श देगा आप सबर कर ले हम अपनी बुद्धि अनुसार सुनी सुनाई बात पे उस बच्चे का के समाधान कर दिया जो बेट बाप का ना था इसके ऊपर हमने के डाल डा दी कि जो इसकी रक्षा करे इसकी रक्षा बना उन दोनों में लटता चाहो वैसे पूरा जी जाओ पर एक सेकंड का भरोसा करो और भाई फिर कहें उस दुखिया का एक का बेटा बेटे पैदन तोड़े थी अपने पूत की खैर की खातर तेरे दे दाम ना दौड़े थी तेरा ना कित कित मरना मंडा अपने बच्चे खातिर तेरा कित कित बाल तरुआवे बाल कित तरुआवे बाल तरवाने पे के सारा लगे कोई विचार करे जो तो विचार ही खत्म हो गया हमारे डर इतने गए हम गुड़गाम वाली पे कोई अपने इष्ट धाम पे जो उन्हें पूजा स्थल मान रखा कोई श्याम जी पे कोई हरिदास जी पे कोई गरीबदास जी पे ये अपने बोला बाल तरवा कहा कोई बेरी वाली पे महाराज कहते हैं उन बाड़ों का वहां थे क्या लाभ और हानि है बताऊं थारे तो अब बाल तुरवा कहते हो यहाँ पांच रुपया में तारा उड़ा बीस रुपये में तारेगा और उन बालों ने आपके सामने तो धर लेगा कट्टे में गा लेगा और चार बाल तुमने दे देगा मंदिर में चढ़ाएगी तो कि मंदिर वाले बाला ने खा के मरेंगे सांझ ने खिड़का कट्ठे उन्हें तो करोड़िया बटोकेंगे ठाके और तुम राज्य अग्नि बाल चढ़ाए तो दिए इस तरह अपना कटवा के घेर दो किधर पगा बदा उठा के मुकाम का इतनी दूर जाओ वो बैम इसने कौन काट दे इसने काटो मंदी छोड़े मेरा बाल चढ़ा दिया हमने फ्रेम हो गए इतना बताए बाल बड़े बड़े बैंक में जमा करा दिए सही बताऊं तो एक बार भी घिस ले हाँ एक बार नया तार करना पड़े इतना देरा इस जीवन के ऊपर काल देव ने कर रखा है और दूसरी बात फिर नो, नोडर लागे कसी वो चिंगर जा चिंगर डाला बिटर गना गया हाई मारी तब बता सत्यम छुटवा से उस सत्यम का कर क्या रहे हमने वो देवता और बड़ों में बैठे तब छह महीना में अपनी खीरा पर बना के खा लेने का देवता का तर सत्यम की बनावा सा सत्यम का तुम तो पहुंची क्यों करे वाह या भी विचार कर लो अच्छा फिर छठे महीने उसके तक तो खेत ख्यात में बना रहे हो अपना छोटा मोटा या इष्ट दाम पर जाते हो वहां अपना चढ़ाते हो वो मंदिर में चढ़ाओ गड़ो तो पुदारी पड़ेगा सुल्फे पाड़े दारू पीवे घना फालतू पैसा और कित प्रयोग करे वो मैं मौज मारे से वो तुम सीधे नरक में खेत में चढ़ा खाओगे उड़े कुत्ते बाट देखते पावे और वहां पर जो है आप तो चढ़ा के उतरो भी कोई ना इतना वो चढ़ ले उस माता पे <laughs> उड़ा छक्का फिर उसका ऊपर मुते उसके सर पर और मारी घी घी महाराज कहें जैस माता में सी शक्ति है कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ देती है जैसी बड़ी आया माता शक्तिशाली है ये थारा पितर खेत आला तो कुत्ते की टांग तोड़ा जो माना आव को कांता पर हम भी पूजा सारे जाके उसने है तेरा बुलाया तो इन बातों का विचार करोगे तो बात बनेगी क्योंकि बुद्धिजीवी तो हो ऐसी बात नहीं पढ़े लिखे बालक सब बहन भाई तकरीबन जान लगे इन शास्त्रों को भी पढ़ लो और विचार भी कर लो इनका ऊपर अरुण पूछते पूछते वहां दुर्गति हो रही वो संकट ने के और हम बताने लग रहे कि शरण माने के बाद वो संकट मिट गए जो बालाजी फेल हो गए और ऑल इंडिया फेल होगी मिलिट्री हॉस्पिटल फेल हो गए और इस बंदी छोड़ की कृपा तुम स्वस्थ हो गए अपने पूत के खैर की ताही तेरे देई धाम को दौड़े थी उसके आगे वो भी खा लिया और कति करी ना टाड़ तने बता भाई इस तरह ढूंढा दुलम और क्या करेगा क्या हो सकता है पहले हम पति मरा विधवा होगी और फिर बेटा मर गया अब वह माई क्यों कर सब्र करेगी अपना विचार करके देखो अपनी छाती पात जब बेरा पट इस काल के जाल का ये तो हमने सुख गया है कोई बात ना उसका तो हो गया होगा अपन के समाधान कर रखा जो अपनी जिला बीतेगी कहानी इसका समाधान एक का बतावे है कि संत शरण में आ जा कबीर भगवान की में <clears throat> इस कबीर पंथ में भी बहुत ज्यादा काल के दूध इकट्ठे हो गए कबीर साहब को कहते हैं ये तो मां का पैदा हुआ था ये तो जुल्हा था कवि थे बढ़िया बात बताई वही शास्त्र ने लिख रखी वही इसने बताई यहां तक उनकी बुद्धि स्थिर है लोगों की कबीर पंथी महात्मा ये कहते हैं कि मां बिना तो पैदा हो नहीं सकता वो कबीर पंथी नहीं वो तो कालपंथी से वो कबीर साहब से परिचित नहीं उनकी शक्तियों के और उनकी उत्पत्ति से उनकी वो सृष्टि के रचने वाले अनंत कोटि ब्रह्मंड के भगवान से एक तरफ तो कंस बना दिया और बनाया कृष्ण भगवान तो ही निरंजन ने अपना स्वार सिद्ध करने को और ये बना लिए चारों खान तो ही चार खान कौन कौन सी हैं अंडरज जेरज श्वेतज और उद्बुद्ध ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है और जैसे कोई अंडे में कोई जेर से जैसे पशु भैंस गाय बैल मनुष्य ये जेर से उत्पन्न होते हैं इनको जेरज कहते हैं जेर से उत्पन्न होने वाले अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले श्वेतज जो अपने आप जैसे सुरसी बन गई डोहरा बन गया कीड़े पड़ गए गुल्लर में आप गुल्लर के फल ना देखे उसमें पंख जीव पाकर फर्र दही उठ जाते हैं <clears throat> और उद्बुद्ध ये चार प्रकार के प्राणी होते हैं जो कि अब जैसे खेत को खूब बाधे हैं और कति बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी हो जाती है बारिश होते इसमें गन्ना कितने उग जाते हैं उद्भुद होते हैं जैसे अपने आप पैदा हो गए इस प्रकार ये चार प्रकार से उत्पत्ति जिसमें जड़ वृक्ष भी आगे पौधे पक्षी भी आगे पशु भी जंगली जानवर ये सारे के सारे तो यहां कहते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू ही सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई ओछी उपासना सारी है छुटगी ये पूरे પૂરે तारण हुई ओछी उपासना ये तो चौरासी में जानकी थी माता दोकना व्रत रखना ओई कमोई बनाना मनाना करुआ चौथ कर का व्रत रखना ये सब चौरासी का धंधा साधन है चौरासी तो छूट नहीं है पर ये एकदम हमारी बहन भाइया कैसी खटका है नौकर करुआ चौथ ने भी ना मानन देते थे ये करुआ चौथ की डाल की तड़ा रखी है कौन से शास्त्र में लिख रखी है या बताते तो दो मैं भी पढ़ लू उसने और हम भी भाई आगे गा दें गुण उसके या किसी का इष्ट करवा चौथे एक आराम करके करवा के दिखा दो किसी का दुख दुखी का हम मान जाएंगे एक कद बता दो इश्तला हो गया हो वो तो देखा देखी से शास्त्रों का तो ज्ञान रहा ना मैं भी देखा देखे हनुमान पूजन लग गया था हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया अपने नफराम हो गया पच्चीस साल किया और ये छह महीना में वो साधना उसे कई हजार गुना ज्यादा उपलब्धि होगी जो विधिवत की हमने इसलिए डरोरा पीटो हूं भाई वो साधना गलत थी अपनी अपने मेरे भी ये चौंत लाग रही थी और यह आपके लाग रही से इसलिए इसको हटाने की खातर सौ प्रमाण देने पड़े हैं एक ही पॉइंट के ऊपर जब जाके आप स्वीकार करती है कि शायद ही शायद या गलत हो फिर तो शायद पावा है एक एक दो सुनकर तो और जब इसमें लीन हो जाते हैं और फिर वो अनहोनी होती है जो सुना करते इस कबीर भगवान की कृपा से होती है वो चीज़ें हम सुना करते और ये हो गया था कि ये तो कदम पहले होती होंगी ईब कोई ना होती ये सतयुग सतयुग में होया करती जो शुक्र भाई फलाने न्यू कर दिया उसका लाभ होगा उसका न्यू हो गया है वो तो ये आज भी होती है और वो पद्धति हमारी जो भगवान की पद्धति थी वो मार्ग था वो भिन्न हो गया गलत हो गया ठीक हो नहीं रहा इसलिए ये हमें <clears throat> जची नहीं हमें लाभ नहीं हो रहे सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई निरंजन की कबीर भगवान ने आकर हमारा यो अंधेरा हटाया ओछी उपासना सारी ये छुट गई इवता वो व्रत राखन न रू भी ना करती हनुमान चालीसा तीसा ऐसा लगता है <clears throat> जैसे पहली का कैदा होया करे और बीए के बच्चे को इस प्रकार कहते हैं ओछी उपासना सारी ये छुटकी बुरे कर्मा आने हुई बीड़ी शराब मांस तमाकू नौकरी बिन का निरूह ना बनती है ये तो दुश्मन दिखने लग गए चौरासी में लिए जान के पक्के साथी हो गए दिखाई दिए गधे बनावा फिर कुत्ते कुतिया बनकर गोबर खावा इसे जुलम ने क्यों करा भाई <clears throat> तो ये ओछी उपासना और बुरे सारी ये छुटकी बुरे कर्मों से आन हुई आन माने परहेज हो गया व्रत हो गया अब कहते हैं ना मन तो व्रत रख रखा साथ क्या का व्रत अगरोटी को ना खाऊं पानी पानी पीऊंगा ये व्रत क्या हुआ भाई <clears throat> रोटियां गिरना दुश्मनी क्यों बनाई बरत कर बीड़ी का शराब का सुल्फे का मांस का यो तो व्रत बढ़िया भी लग गया और शरीर ने रोटियां बना काम चला नहीं की तुम व्रत रखो बता और जिसकी आवश्यकता नहीं उसने इसके अंदर प्रवेश करो ओका बीड़ी तम्बाकू शराब को और मांस को उल्टे व्रत शुरू कर रहे हो खाना थोड़ा खाओ प्रथम अंदर संयम राख योग युगत सब सतगुरु वाक है अन जल यानी अपना इसने घना ना खावे थोड़ा खावे ज़्यादा खाने से आलस बढ़े जब आई आवे और थोड़ा खावे संयम यूं ना कि ये व्रत कर ले भाई चार पांच छह रोट ना ठोकर अपना दो तीन नाम काम चला ले दो तीन बार खा ले पर थोड़ा थोड़ा खा ले तो उसका आलस नहीं बनता जीव को ये तो है व्रत नुका तो सांध में सिर में दर्द हो जाता मैं भी रख्या करता हूं सिर में <clears throat> दर्द हो जाता फिर लाल जिन की गोली खानी पड़ती रखना फिर भी अगली बार फिर रखेंगे क्यों वो तो हमने ज्ञान नहीं इतना था इस प्रकार इस कालदेव की पोल को कबीर प्रसाद बिना कोई नहीं खोल सकता मुंह बिना पाटा इंसान का इतना डर लग गए काल तक यहां कहते हैं जीवों को दिखाकर लीला अपनी महिमा गनी यही जान जीव को बांध कर यह आशा आशा रक्षक देनी कबीर साहब ने बताया कि तुम्हारे साथ एक धोखा और करे है काल बली कैसे एक तरफ तो कंस बनाया रावण बना दिया दूसरी तरफ राम और कृष्ण जी को प्रेरित कर दिया विष्णु जी को इन मार का अब उनको मार देने से वो इतना बड़े राक्षसों को तो हमने इनको मान लिया ये हमारे भगवान थे हमारे रक्षक हैं लेकिन ये भी रक्षक को ना बेचारे एक समय बात है कि ये भी धोखा करे है काल के इन न भगवान मान्य रहे आगे का बेरा ना पट्टा फिर ठग लो न स्वर्ग ताई बेच दो और स्वर्ग में खा कर पूंजी चौरासी में ठोक दो ये वहां पर गिठड़ी फिर अपने पुन में मारी वह गिठड़ी वह गांठ पुनों की जो थी पंडोकली वह फिर वहां छीन ली और खाली करके पल्ला झाड़ के चल बेटा अब कर्म हो गया अपने चौरासी में एक समय की बात है एक भक्त ये कथा सुने था नो बोला जी सौ की सुनो की नो सर कैसे नो बोला एक समय की बात है कि हमारे एक नाटक मंडली आई हुई थी गांव में और उन्होंने क्या दिखाया उसमें कि एक सेठ जावा था और उस पोटली ही बना रखी पहला गठड़ी बनाकर उसमें चूरमा भी तो बांध लिया करते पैदल चलते थे और पैसे भी सब रखा अपने हैं तो उसने क्या व्यापारी लोग था कुछ तो गोज मंगा लिए और कुछ होते थे चांदी के रुपये वो उस गठड़ी में बांध कर कपड़े कुपड़ा का बहाना सा लको लगा उस पर धर ली उनको साज लाएगी ठगों को कि भाई सेठ से और माया जरूर से इसके पास पर यो हमने दे क्यों करे ने बोला इसी पोटली बना कर उन तीन चार ठगा ने और सेठ ते <clears throat> एक ने बोले तू जाके सेठ गेला हाथी पाई कर ले और हम तेरे दो चार थप्पड़ मार दे तो गोली हो जाइए यू हमने सोच लेगा <clears throat> कि तेरे खास साथी हो गए ये ना होते था तो तेरी पोटली गई थी एक ने जाकर आगे बाजरा में कहा के और सेठ ने पोटली ला गया खेत पोटली छोड़ा था सेठ करड़ा हो गया नो तो भाई एक ना तो देखो ना कहीं तो डर लाग गया जा पर नो चौपट का करड़ा होगा अल्लाह तुम्हारा उसका इतने वो भी पहुंच गए जो उसके साथी थे दूसरे ठग ने तो बोला सेठ घबराइए ना आगे हम भी सेठ ने देखा हाँ ये देखेंगे तेने तो देखा हम कही होगी सर वो थोड़ी का बाज गया वो तो उनका साथी था वो तो उन आकर उसका बाज बूझ के बाद एक दो डला मार दिया वो डांक ठोक गया हाँ भाई तुम तो बड़ी अच्छी सेठ कहने लगा बड़ी अच्छी बात करी तुम तो आगे ना तो आज बात बिगड़ गई थी मेरा तो इसमें था सारा सौदा वो ना तो बता भी दिया उन ताई बाकी इसमें तो गना सौदा था मेरा हाँ, हजारें रुपये ले रहा था मतलब व्यापार करने जाना से ओहो ले भाई चोखा आगे तालीम घबराइए ना सेठ अंतरी सा कि जागा कि वहां तक और उस तो एक गांव पहले का नाम ले दिया हम भी वहां तक जाएंगे एक गांव आगे का अगले चलो मेरा पीछा छूटा चार साथी तीन चार साथी हो गए निश्चिंत आगे जाके ने बोले भाई चोरमा खा लिया अग आ जाता कुआ देख के बैठ गए अब पैदल चल रहा था सब नबेरा है कोई आदमी थकेगा फिर बाथरूम भी जाएगा पेशाब भी करेगा अब सेठ जी इधर का पोटली न और दूर से जाकर शर्म का मारा भाई बाथरूम कर चला उन वह पोटली बदल ली वह सेठाली नान नौ दर दी वह कांकर गाल रहे थे उधर खाकर वह कांकर वाली तो उसका आगे दी और वह रुपये वाली अपने दर ली और वह अपनी पोटली खा कर चल चल पड़े वो चुरमा चुरमा उसमें रोटी रोटी खा ली थी फिर बाद में बाथरूम गया था वो बांध गया अपनी रोटी अब वो ठाठा चाल पड़े वो बोले सेठ दिया हम तो भाई थोड़ा डटका आवागे तू चाल इतने हाँ, अच्छा मैं सोची चल ले भाई भी कहा चमाट होगी होगी आगे जाके सेठ ग्राम पहुंचा अरने कह देख भगवान रास्ता बस ने पूछा ना भगवान ने चार फरिश्ते भेज दिए ना तो बात बिगड़ गई थी क्या हो गया था कि एक ठग ने एक चोर था वो चक्का पोटली खोसा था बोला ठीक से सेठानी भीतर खोलियो का करने के लिए तुम उसमें नो बोले इसमें ये के बांध रखे आपने अके अग देखता है ओए रत रहा यो वो तो ठग था को ना पर वो काट के रोग मेरा अब विचार आया उसने तो यहां कबीर साहब की ये कहते हैं ये एक दोहा कैसा है कि जीवों को दिखलाकर लीला अपनी महिमा गणी और जीव जाने यही जान जीवों को बांध के आशा यही हमारा रक्षक दड़ी कि ये हमारे भगवान से ये हमारी खूब मौज मचाओगे नोना बेरासली के छिड़ी ये स्वर्गमुख सेंगे तेरी ने इन पनों को वहां छिनक लेंगे और खाली मुंह लटका कर नरक में नरक के बाद चौरासी के गेड़े में चौके से रक्षक कला दिखा के या रक्षक कला दिखाई उन ठगा ने कि हम तेरे रक्षक से भाई और अनंत अंत में काल भक्षण करे और पीछे जीव पछतावा जब जाके काल के मुंह पड़े तो सेठ घर जाकर रोया अको तरह बोला ये उन बेकूफों को बता भी दिया मैंने तो मैं ले रहा हूं पैसे जब ना बताऊं तो क्या टाल भी हो जाओ तो ये कहानी कबीर साहब ऐसे ढंग से हमें बताता है कि भाई देखो आज्ञा थारी मौत से सच्चाई मानो तुम तुम्हारी मर्जी ना मानो आपकी इच्छा पर जो का तो कति साफ इतिहास है अड़सठ तीर्थ बर्मा था प्या अक्रम कर्म कौन और पापा ब्रह्मा जी ने अड़सठ तीर्थ बना रखे ब्रह्मा जी ने कैसे उनके वंशज ऋषियों ने साधना की उन तीर्थों पर साधना करके तो किसी ने तपस्या करी किसी ने कोई जाप किया इस भगवान निरंजन का इनमें भी शक्तियां हैं सिद्धियां हैं ये भी अपने यहाँ के पूर्ण सुख दे सकते हैं जितने ये दे सकें लेकिन जो असली संकट है चौरासी का इसको ये मिटा नहीं सकते तो तब तीर्थ क्या होता है जैसे एक ऋषि ने एक तालाब का आसरा लेकर वहां पर अपना तपस्या करी कोई साधना की जितने भी काल निरंजन का कोई जाप किया तो वहां अपने करके तपस्या वो तो चला गया जैसे कल बताया था कि मोम दस्ते में किचन सामग्री कूटी और मोम दस्ता उनका वहां छोड़ दिया मोम दस्ते में तो मैं कावा से पर वह वस्तु को ना वो तो ले गया अपनी गिठड़ी बांध गया उस सामग्री की जो उसने मेहनत करी थी कुटा छेती करी थी अब इसी प्रकार उन तीर्थों के उन ऋषियों ने जो साधनाएं की थी उनकी मैक मैक रह रही से वो वस्तु अपने वो धन न ले गए आपने कुछ नहीं वहां जाओगे एक बार शांति सी होगी फिर पाछा कुछ कोई ना भाई घर में तो जब होगी जब सामग्री घर होगी रोज अपना तो वो राम नाम की कमाई हम देते हैं आप घर सामग्री कुटो अपने घर पर रखो तो ये अड़सठ तीर्थ ब्रह्मा था प्या उसके संतों ने बना दिया अच्छा सत साहब बता रहे हैं सतगुरु महाराज कबीर साहब के आधार पर जो भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया उन्हीं के आधार पर आपको हम बता रहे हैं अड़सठ तीर्थ ब्रह्मा था प्या अड़सठ तीर्थ ब्रह्मा जी ने बनाए हैं और तीर्थ पर जाने से जीवन में लाभ क्या हो हानि क्या हो जैसे आप तीर्थ स्थल पर जाते हो तो रास्ते में ना जाने कितने जीवों को हम उस स्थल पर पहुंचने से पहले संहार कर देते हैं मार देते हैं पुन तो एक होता है और पापों की गठड़ी बंदगी है अर्थात पुन थोड़े पाप घने बनते हैं मान लीजिए तीर्थस्थल पर जाने का एक पुन हुआ और पाप बन गए करोड़ों क्योंकि जो जीव हमने रास्ते में मारे वो बेचारे अपने बच्चों के लिए घर से निकले थे कोई चुग्गा लेने के लिए कीड़ी मकोड़े चीटियां जो हैं और हम अपने स्वार्थ की खातर चले अपने पनों के लालच में हमने उनको रास्ते में मार दिया और ये हमें उसका पाप लगे इस प्रकार कबीर साहब ये बताना चाहते हैं कि जो पुण्य तुम कर रहे हो उनके साथ साथ पाप भी बन रहे हैं गरीबदास जी महाराज कहते हैं करत हैं पुण्य होते हैं पापम करत हैं पुण्य होते हैं पापम आप करते रहे हो पुण्य और हो रहे हैं पाप और आप कहते हो कि हम किसी की आत्मा को दुखाते को ना और हम कोई पाप नहीं कर रहे कोई जीव हिंसा नहीं करते कार्तिक माघ उनके दीना यम की बाजी कोई बिरला चीन नो कहे कार्तिक में जो और माँ में कार्तिक के अंदर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बताते हैं बहुत पवित्र होता है कि गंगा में स्नान करते हैं उस दिन उनकी मुक्ति हो जाती है पाप कट जाते हैं गरीबदास महाराज कबीर साहब यही प्रमाणित करना चाहते हैं ये गुमराह कर रखे हो आपको गलत मार्ग बता दिया गंगा के पानी में कार्तिक की पूर्णिमा के में फर्क पड़ जाता है <coughs> आप उसको दो दिन पहले जल निकाल कर रख लो और फिर कार्तिक वाले दिन निकाल कर रख लो और टेस्ट कराओ लेबोरेटरी से जब उस तरह कोई फर्क पड़ गया होता मान लेंगे पड़वासी वाला जनता तो गणा बढ़िया गंगा जल हो जाता है इसका मतलब फिर बाकी जनता तो धोखा हमारे साथ वह गंगा भी वह दोगली होगी दो डाल की काम करे एक कहते हैं शराब भी शराब पी रहा था और आगे से एक मेरे जैसा बोधा सा आ गया उसको गालियां मंड गया उसने मेरे जैसे ने सोचा भाई शराबी का गाड़ी दिया करो और कौन से फूल बरसाया करे वो तो चल पड़ा उसके पाछे न रिया चल दिखूंगा तो और घनी गाली देगा <coughs> आगे तो आगे मांगे राम के साथ होगा लेके उसने कहा नमस्ते चौधरी साहब ओ शराबी अ तो मेरे कैसा बोधा हाँ यूं कह रहे शराबी दो डाल की पी रहा खा कर तू शराबी दो डाल की पी रहा है मन तक तो गाली दे अरे इसने तो नमस्ते करे तो फिर तो गंगा भी दो डाल की होगी भाई बाकी दिना मतवा मतलब कुछ नहीं करती अरे भाई सिर नान तो मौज मचा दे <coughs> अब भाई भी इसमें किस प्रकार <coughs> अब कैसे इसको हम इस बात से इन भोली भाली आत्माओं को हटावे अब ट्राई सभी कर रहे हैं अब देखो विचार की बात से भाई <clears throat> ब्रह्मा जी ना आप पूजो चलो विष्णु जी ना आप पूजो ब्रह्मा की पूजा नहीं करते क्यों और किसे जोगा तो सहे को ना काम तक मानदा नहीं मारा अब होम मिनिस्टर की गणी पूजा करा अरे को गान मंत्री बना रखा पर पर्यटन मंत्री अंडे था कि उसने कति ना पूजा मारी ऐसे स्वभाव बन गया इसलिए उसकी पूजा करें क्या हमारा आम काम मतलब होम मिनिस्टर ज्यादा आवे <clears throat> तो विष्णु जी की पूजा करें और शिव जी की करें क्यों गढ़ दे अच्छा तीसरा जो है <clears throat> फिर अपने घर में जो बना रखे व्रत भी करें गाटी भी पूजा पीपल भी तुलसा तुलसा भी <clears throat> और साथ में और के पूजा हम मंदिर में पानी गिर जावा चढ़ावा अपना जल पवित्र ढंग से जैसा भी हमने साधना बता रखी आठम छठ सातम ने खीर भी बनावा जो विधि चल रही है द्वादशी को अच्छा फिर उसके बाद कोई कष्ट आवा तो फिर सैना ने ढूंढा कतरे दिखावा फिर जो आप कर रहे थे उन साधना ना के करे आपका या कदे विचार किया आपने अब कबीर साहब कहते हैं कि ये तुम तो तारी गेला नो बन रही है कैसे अब काटड़ू बच्चा जो गऊ का बच्चा होता है या भैंस का बच्चा होता है जब तक उसका थन नहीं खावेगा ना थन नहीं मिलेगा इतना पूछ डाल है कोई ना नकली लाओगा थोड़ी देर कई बार तो माँ के आगे गर्दन में खालड़ा सा लटकिया करे उसने मुंह में दे लिया करे और थोड़ी तो मुंडा करड़ा हो गया थोड़ी देर में छोड़ दे उसने कि उसमें सहे कुछ नहीं फिर कान जा कान ने चूसे जागा अब सोचा दूध होगा फिर मुंडा न्यू करड़ा हो गया फिर उसमें कुछ नहीं पाता उसको भी चाक देता है और भाई फिर मुंह में उंगली दे लिया करे उस बच्चे का धनी थोड़ी देर उस उंगली में भी खूब चापा वो फिर उसने भी छोड़ देता है और थम छाए पास चूस कर छोड़ दिया उसने इसी प्रकार जब हमने वो सही स्थान मिल जाएगा भक्ति का और छोड़ देगा जब अपनी मर्जी तो पेट भर जाएगा छोड़ता नहीं फिर नहीं उतरेगी उसको पता तो है ही वहां से हमारी जो ना <clears throat> ये पूर्ति होती है तो इस प्रकार आप जो साधना कर रहे हो कभी गंगा में जाते हो और कहीं तीर्थों पर और कितना फिर और गणी दूर जाओ सो ये सिर्फ आपके उस तुम घूमता रहे हो उस परमात्मा के चुगर दे गए पर भाई वो वो चीज नहीं ठहरी जिस तरह से वो आपको लाभ देता है वो देता है संत के माध्यम से सार शब्द और सत नाम की कमाई करते हैं फिर आपको वो वो वस्तु मिलेगी फिर आप सेटिस्फाई हो जाओगे आप बिल्कुल आराम से संतुष्ट होकर बैठ जाओगे तीर्थ धाम का बाद महात्म तीर्थ धाम का बांध महात्म जावे ना भरम ना चीन ने आत्म प्रथम तो भ्रम नहीं मिट रहे आपके और आत्म कल्याण का था तो मतलब है कोई ना मार्ग पे पाप पुण्य में सभी फंदावा ये विद जीव है उड़झावा सत शब्द बिन कोई बच्चे ना ही और भाई सार शब्द बिन यम मुख जाए साफ कर दिया कबीर साहब ने कि सत शब्द यानी सत नाम बिना कोई नहीं बचे और सार शब्द यम मुख जाए इस काल के मुंह में जाओगे चाहे योगी बनो और चाहे भाई साधक बने रहो चाहे चारों वेदों के ज्ञाता बन जाओ पर वह ना जन्म मरण मिटे ना चौरासी छूटे अब इस बंदी छोड़ बिना ये पाप ना कौन काट दे भाई ये पूर्ण परमात्मा है अनंत कोटि ब्रह्मंड के भगवान से लोभ लाभ जीव लागे जाई आशा बांध काल दरखाई जीव लागे ध्याई आशा बांध काल दरखाई लख जीव लाख जीव यमनित प्रति खाई और महा अपर बल काल कसाई अब बंदी छोड़ इसको काल को कसाई की संज्ञा दे रहे हैं लाख जीव यम यम माने काल नित प्रति खाई और महा अपर बल काल कसाई तपत शिला निश्चिंता धर ही और ता पर जीव ता पर ले जीवों को धर ही तपत शिला निश्चिन दिन रात वहां पर निरंजन के लोक में जलती रहती है और उनके ऊपर उन जीवों को दरकर फूक कर भून कर खाता है तपशिला निश्चिंता जरही तापर ले जीवों को धरही ता पीछे योनि भरमावे और या विद नाना कष्ट दिखावे उसके पाछे फिर योनि में भी भरमावे तुम्हें यानी चौरासी लाख यों की नो त्यार संकट पड़े चल हम <clears throat> इस काल भगवान से ये प्रार्थना करें हम तो इतने डीटता तो हुए लिए दुखा न सहन जोगे भाई हमने तो मारा मत ना बस और या फिर इतनी कर दे भाई हम हो होकर बेशक मर जावा इतने तो बड़कन ठीक ठाक हमने रह लेने दे पर इतनी भी छुट्टी ना जनता फिर भी हम को ना इतने डीठ हो लिए इन संगठन तो जेल झेल जा लेंगे चाहे सांप लड़ो चाहे कुछ भी हो जाओ लेकिन इतना भी यहाँ पर इतनी भी सुख को ना और फिर भी जान क्या यहाँ से रुचि कती नहीं क्यों जो सुखी हैं जिनका दुख को ना वो ना सोचे है इनका तो क्या होगा पद मौज मारा ऐसा ठीक बहुत बात चाल ठीक काम चल रहा है यहां महाराज कहते हैं आशा बांध काल कर खाई लोभ लाभ जीव लागे ध्याई आशा बांध और काल दर खाई सबको आशा बना रखी है बेटे बड्डे होंगे ब्याह और भाई फिर मौज हो जाएगी पोते होंगे उन्हें खिला करेंगे कंधे बिठा कर घुमावाएंगे और भाई जो बीच में चले जाने लग रहे रोजाना एक लाख की गाणी गल है क्या उनकी आशा थी को ना ये विचार करोगे जो भक्ति करना रुचि बनेगी आपकी और कोई ने सोचा हमने का काम छोड़ दो बालक छोड़ दो आप छोड़ के दिखाओ एक दिन हम भी नहीं छोड़ सकते आप ना क्या कहें हम नहीं कहते छोड़ा अपने बच्चा ने इस लाइन पर लाओ भक्ति करवाओ उनकी बुराइयां छुटवाओ सतमार्ग पर लाओ और फिर उनके अंदर रहकर अपनी भक्ति करो उनको भी साथ में बैठाओ और अपनी आरती करवाओ हम ये कहते ताकि आपके साथ साथ वो भी यहां से मुक्त हो जाए और जब तक हम इस मार्ग को नहीं अपनाओगे सतगुरु महाराज वाले को इतना बात बना कोई ना तपत्सला जर ही हाँ ता पीछा योनि भरमावे या ना कष्ट दिखावे इस प्रकार ना बेरा कितने प्रकार के संकट में जीव न डालकर और ये दुर्गति करता है धर्मदास ने बोला महाराज जी क्योंकि धर्मदास भी पक्का नाड़ी था और पूरी साधना भगवान विष्णु और शिव की किया करता था जैसे हम सभी कर रहे हैं उनका के दोष बेचारे का जैसा भी हमने मार्गदर्शन हुआ है उसी के आधार पर हम लगे हुए एक दिन इस प्रकार कबीर साहब ने धर्मदास ने जब कबीर साहब की पद्धति को स्वीकार कर लिया क्योंकि वो पहले भी स्वयं गीता जी का बहुत तगड़ा उपासक था हम भी गीता जी पढ़ा करते हैं मैं छोटी सी गीता जी एक सरलार्थ की हुई छोटे छोटे अक्षरों में अपने साथ रखता था जो पढ़ा करता और उसमें पढ़ते थे देखा करते बड़े ध्यान थे और पढ़ पढ़कर अच्छा की बात है कि एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े सेठ थे और बांधवगढ़ में रहा करते थे बांधवगढ़ के रहने वाले <clears throat> उनको धनी धर्मदास जी के नाम से जाना जाता है इतने सेठ बताते हैं उनको इतना पैसा था उनके माता पिता के पास कि बांधवगढ़ नरेश को कभी किसी कारण से धन की आवश्यकता होती <clears throat> तो धर्मदास के माता पिता और स्वयं धर्मदास से वो वित्तीय सहायता लिया करते थे ये राजा को बिना ब्याज के पैसा देते थे और कुछ वैसे भी दे दिया करती थी